भले ही आज का दिन विक्रांत के लिए बड़ी मुसीबत वाला रहा हो लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस उसे अच्छा लगा पहली बात तो माँ के हाथ का खाना और फिर नैना का साथ नैना और माँ के बीच की बॉन्डिंग देखकर विक्रांत बहुत खुश हो रहा था उधर दूसरी गुड न्यूज अमित ने दे दी थी अमित ने बताया कि खालिद विक्रांत का काम करवाने के लिए खूब भागदौड़ कर रहा है वो जेल में जाकर सोनू दीदी से मिलने के साथ ही पैसिफिक बिल्डिंग के मालिक से भी मीटिंग कर चुका है शाम तक उसने विक्रांत को फोन करके गुड न्यूज भी सुना डाली उसने जिम की डील कुल पैंतीस लाख रुपए में फाइनल कर दी थी हालांकि जब विक्रांत पहले ये जिम खरीदने गया था तब ये काफी सस्ते में मिल रही थी लेकिन उस वक्त ये इलीगल जिम थी और यहाँ ब्लैक मार्केट का अड्डा भी बना हुआ था लेकिन अब भले ही विक्रांत को पैंतीस लाख देने पड़ेंगे लेकिन बिल्कुल फेयर डील हो रही थी वैसे मार्केट रेट के हिसाब से इस जिम का रेट पैंतीस लाख भी बहुत कम है असल मायने में ऐसी जिम लेने के लिए करोड़ों रुपए लग सकते हैं लेकिन चूंकि इस वक्त सोनू जेल में है और वो अपना केस भी लड़ रही है सो वो जल्दी से जल्दी जिम का कॉन्ट्रैक्ट बेच देना चाहती थी उधर पैसिफिक बिल्डिंग वालों के लिए भी ये जिम सिरदर्द ही था तो वो लोग भी जल्द से जल्द इसे बेचकर अपना रास्ता क्लियर करना चाहते थे विक्रांत को इस चीज का फायदा मिल गया ऊपर से उसने खालिद को भी इसमें कमीशन नहीं मारने दिया कुल मिलाकर अब विक्रांत जिम का लीगल मालिक बन चुका था खालिद से इस बारे में बात करने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही अपने ब्लांड दोस्त सरताज को इस बारे में खबर कर दी उसने सरताज को भी कल ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुला लिया विक्रांत खुद इस जिम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था इसलिए वो सरताज को ही इसका मालिक बना देगा सरताज अपने बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर जिम चलाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा विक्रांत तक पहुंचता रहेगा वैसे भी सरताज अभी अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी चकारी और गली में गुंडागर्दी का ही काम करता है ऐसे में अब सीधे टॉप क्लास के जिम का मालिक बनना उसके लिए फर्श से अर्श पर पहुंचने वाली बात थी तब विक्रांत ने उसे अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने को कहा तो सरताज इमोशनल हो गया वो विक्रांत का एहसान कभी नहीं भूल सकता सरताज खुशी के मारे तुरंत ही विक्रांत से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था लेकिन अभी विक्रांत काम में व्यस्त था तो उसने मिलने से मना कर दिया जिम का मामला सेटल करने के बाद विक्रांत ने राहत की सांस ली उसे उम्मीद थी कि इस जिम के सहारे वो अच्छी कमाई कर लेगा और फिर पैसे के मामले में नैना के बराबर हो जाएगा फिर वो नैना का हाथ शादी के लिए मांगने के लायक भी रहेगा अगर नैना की बात करें तो अब तक विक्रांत इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि नैना उसे पसंद करती है जिस तरह से वो माँ के साथ बात कर रही थी उसे देखकर तो यही लग रहा था वो माँ से विक्रांत की कंप्लेंट कर रही थी कि वो कई सारी लड़कियों से मिलता है इसका मतलब नैना को इस बात से जलन होती है कि विक्रांत दूसरी लड़कियों से मिलता है और जेलसी वही होती है जहां पर प्यार होता है भले ही नैना विक्रांत से प्यार करने लगी हो लेकिन विक्रांत तब तक उससे शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो हर मामले में नैना की बराबरी ना कर ले फिर चाहे पैसे कमाने की बात हो या फिर केस सॉल्व करने की विक्रांत इस सोच के साथ खुद को काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था इस सोच के साथ उसके अंदर मेहनत करने और नाम कमाने का जोश और भर उठा वो नैना से प्यार करता है और उसे हासिल करने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ेगा विक्रांत सक्सेना करने को तैयार है वैसे आज के जबरदस्त एडवेंचर वाले दिन को पार करने के बाद विक्रांत का सक्सेस रेट तकरीबन पिचानवे प्रतिशत तक का था आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा एक पावर जेमिंग डिवाइस मिली हुई थी इस डिवाइस की मदद से वो कुछ देर के लिए किसी भी एरिया का पावर जाम कर सकता था विक्रांत को पहले भी अदृश्य शक्ति ने यह डिवाइस दिया था तब उसने इस डिवाइस का इस्तेमाल पनवेल ब्रांच के पुलिस स्टेशन में किया था जब इस डिवाइस को इनविजुअल लाइट के साथ इस्तेमाल किया जाता है तब तो इसका असर कमाल का होता है विक्रांत इस टूल को पाकर बहुत खुश था इस वक्त विक्रांत के पास खुश होने का सिर्फ एक ही कारण नहीं था बहुत सारे कारण थे उधर जब माँ को एहसास हो गया कि उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है यानी कि उनके मन मुताबिक बहू उनके बेटे को मिल गई है तो फिर उन्होंने भी अब वापस गांव जाने का प्लान बना लिया विक्रांत उन्हें यहाँ कुछ और दिन रोकना चाहता था कम से कम माँ के यहाँ होने पर उसे घर का खाना तो मिलता था और फिर घर में माँ के होने पर घर भरा भरा सा लगता था माँ हमेशा कुछ न कुछ बात करती रहती है कभी विक्रांत को डांटती थी तो कभी प्यार जताने लगती थी विक्रांत को इससे बहुत खुशी मिलती थी वैसे तो वो घर में अकेला ही पड़ा रहता था जब माँ ने रात में विक्रांत को बताया कि वो कल सुबह वापस गांव जाने वाली है तो फिर विक्रांत ने उन्हें बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा था लेकिन अगले दिन सुबह जब विक्रांत सोकर उठा तो पता चला कि माँ जा चुकी थी उसने तुरंत ही माँ के पास फोन लगाया तो पता चला कि अब तक वो बस स्टेशन पहुंचकर बस में बैठ चुकी है माँ ने विक्रांत से कहा कि बेटा तू सो रहा था ना इसलिए तुझे डिस्टर्ब नहीं किया फालतू में तू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करता मैं सीधा ऑटो से बस स्टैंड आ गई और वैसे भी मैं अभी सीधा तेरे मामा के घर जा रही हूँ देखती हूँ तेरी किताब का कुछ पता करती हूँ ठीक है लेकिन मुझे बता तो दिया होता मैं छोड़ आता ना आपको विक्रांत ने मायूस होते हुए कहा अरे तू परेशान मत हो मैं चली आई अकेले मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई माँ ने जवाब दिया अच्छा एक बात और तू अब घर पर ज्यादा पैसे मत भेजा कर मैं और तेरे पापा उतना खर्च भी नहीं कर पाते तेरी फैमिली बनने वाली है शादी होने वाली है तो थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए रखा कर बेटा नैना बहुत अच्छी लड़की है उसका ध्यान रखना कभी उसको जाने मत देना और हाँ मैंने फ्रिज में पांच हजार रूपए रखे हुए हैं उसे तुम ले लेना और नैना के लिए कुछ खरीद देना बहुत प्यारी लड़की है उसे परेशान मत करना ठीक है माँ तुम आराम से जाना अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना और हाँ घर पहुंचकर बता देना मुझे विक्रांत ने कहा उसकी आंखें नम हो चुकी थी हाँ ठीक है मैं आराम से जाऊंगी लेकिन तू भी अच्छे से रहा कर ज्यादा काम की टेंशन मत लिया कर खाने का ध्यान रखा कर टाइम से घर आया कर माँ का लेक्चर चालू हो चुका था वो विक्रांत को दुनिया भर की बातें सुनाने लग गई विक्रांत भी चुपचाप होकर माँ की डांट सुनता रहा विक्रांत जानता था कि माँ उससे बहुत प्यार करती है वो परवाह करती है इसीलिए हमेशा डांटती रहती है माँ का लेक्चर तब तक चलता रहा जब तक कि वो बस में नहीं बैठ गई बस में बैठते ही माँ ने जल्दी ही फिर से आने का वादा करते हुए फोन रख दिया माँ को बस स्टेशन तक भी छोड़ने ना जा सकने के कारण विक्रांत काफी रिग्रेट फील कर रहा था अब उसे घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था और माँ की एक एक बात याद आ रही थी जब वो सोकर कमरे से बाहर निकला तो देखा कि पूरा घर साफ सुथरा हो रखा था कोई भी सामान इधर उधर नहीं फैला हुआ था किचन से लेकर बाथरूम तक सब जगह माँ ने खूब सफाई कर रखी थी किचन में उसने विक्रांत के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रखा था विक्रांत इधर उधर जहां भी नजर डाल रहा था उसे हर जगह पर माँ के होने का एहसास हो रहा था माँ की कमी उसे बहुत ज्यादा खल रही थी